आपने ये नोटिस किया होगा कि सारंगी एक बहुत ही मुश्किल साज है जो दूसरे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आप इन हिस्स मतलब उंगलियों के इन हिस्सों से बजाए जाते हैं और सारंगी में ये भगवान ने बहुत ही <laughs> मुश्किल चीज़ कर दी है कि इन यहाँ से बजाई जाती है ताकि आप यूँ उन्हें मतलब पुश कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितनी यहाँ इन लोगों को दर्द होती होगी शुरू में लेकिन आल से इट्स वर्थ इट कहा जाता है कि सबसे बड़ा साज आवाज़ है सुखदेव सिंह जी और मोहन सिंह जी के गुरु जी रहे हैं बनारस के बड़े पूज्य पंडित राजन और साजन मिश्रा जी सुखदेव जी और मोहन जी का सौभाग्य है कि वो भेनी साहब में ही पैदा हुए थे और उनकी तालीम शुरू हुई उस्ताद मोहिंदर सिंह जी से और उस्ताद हरभजन सिंह जी के साथ और आज आपका सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आप खुद सदगुरु जी से सीख रहे हैं आपने इंडिया थाईलैंड केन्या इन सब जगहों में बड़े बड़े कॉन्सर्ट बजाए हैं और आज शाम आपकी संगत तबले पर दे रहे हैं नविंदर पाल सिंह जी तो आइए सुखविंदर सिंह जी और मोहन सिंह जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਗ ਜੋਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਗਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ